और जब हमने इब्राहिम सलाम के लिए खान काबा की जगह मुकर्र की और हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी को शरीक न करें और मेरे घर को साफ सुथरा रखें तवाफ करने वालों के लिए और कयाम करने वालों के लिए और रुकू सजदा करने वालों के लिए